अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय एट नंबर फाइव निरंतर मेरे में जुटकर हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ मनुष्य की चेतना दो प्रकार की यात्रा कर सकती है एक तो अपने से दूर इंद्रियों के मार्ग से होकर बाहर की ओर और एक अपने पास अपने भीतर की ओर इंद्रियों के द्वार को अवरुद्ध कर दिया इंद्रियों द्वार हैं दोनों ओर खुलते हैं वे द्वार जैसे आपके घर के द्वार खुलते हैं चाहे तो उसी द्वार से बाहर जा सकते हैं लेकिन तब द्वार खोलना पड़ता है और चाहे तो उसी द्वार से भीतर आ सकते हैं तब द्वार भीतर की ओर खोलना पड़ता है एक ही द्वार बाहर ले जाता है वही द्वार भीतर ले आता है इंद्रियां द्वार है चेतना के लिए बहिर्गमन के या अंतर्गमन के लेकिन हम जन्मों जन्मों तक बाहर की यात्रा करते करते ये भूल ही जाते हैं कि इन्हीं द्वारों से भीतर भी आया जा सकता है स्मरण ही नहीं रहता है कि जिस द्वार से हम घर के बाहर गए हैं वही भीतर लाने वाला भी बन सकता है ये ये भूल विचार की निरंतर होती है यह हमें ख्याल नहीं रहता कि जिन मार्गों से हम नीचे गिरते हैं वे ही मार्ग हमारे ऊपर उठने के मार्ग भी बन जाते हैं और जिन सीढ़ियों से कोई नर्क में उतरता है उन्हीं सीढ़ियों से स्वर्ग में भी चढ़ा जाता है सीढ़ियां अलग नहीं होती केवल चलने की दिशा अलग होती है कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों के संयम को उपलब्ध हो जो भाव को मन को हृदय में स्थित करे और प्राण को मस्तक में वो परम गति को उपलब्ध होता है इंद्रियों को अवरुद्ध करके इंद्रियों के संयम से क्या अर्थ है इंद्रियों को अवरुद्ध दो प्रकार से किया जा सकता है एक तो जबरदस्ती विषयों से इंद्रियों को हटाकर झटके से दमन से कोई चीज सुंदर लगती है आपको मन खिंचता है आकर्षित होता है दौड़ता है चंचल होता है एक उपाय तो यह है कि आंखें खोल लें या आंखें हटा लें या भाग खड़े हो उस जगह से विषय से भाग खड़े हो जो आकर्षित करता है उससे दूर हट जाए लेकिन जो आकर्षित करता है वो गौण है जो आकर्षित होता है वही प्रमुख है इसलिए जो आकर्षण के विषय से भाग जाएगा वो विषय से तो भाग जाएगा वो गौण बात थी निमित्त मात्र था लेकिन जो आकर्षित हो रहा था उससे कैसे भागेगा वो तो उसके साथ ही चला जाएगा धन मुझे खींचता हो धन मुझे दिखाई पड़ता हो और मेरे प्राण उस धन को उपलब्ध करने के लिए आतुर होते हो तो धन से भाग जाना बहुत कठिन नहीं भागने के लिए बहुत बहादुरी की भी जरूरत नहीं है अक्सर तो कायर भी भागने में बहुत कुशल होते हैं भागा जा सकता है लेकिन भाग कर भी वो जो मेरे भीतर प्राण आतुर होते थे धन को पाने के लिए वे मेरे साथ ही चले जाएंगे इस जगत में स्वयं से भागने का कोई भी उपाय नहीं हम सबसे भाग सकते हैं अपने को छोड़कर हम सारे संसार को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने को नहीं छोड़ सकते वो हमारे साथ ही होगा जंगल में पहाड़ में कंदरा में हिमालय पर मैं कहीं भी चला जाऊं मैं तो अपने साथ ही रहूंगा हाँ विषयों से भाग सकता हूं लेकिन वृत्तियां वृत्तियां मेरे भीतर ही रहेंगी और एक धोखा भी हो सकता है जब विषय नहीं होते तो वृत्तियों को गतिमान होने का मौका नहीं मिलता तो मैं इस भ्रांति में भी पढ़ सकता हूं कि चूंकि अब मेरी वृत्ति गतिमान होती नहीं मालूम पड़ती इसलिए समाप्त हो गई है लेकिन इस भ्रांति में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं जैसे ही विषय फिर दिखाई पड़ेगा वृत्ति पुनः सक्रिय हो जाए ये वृत्ति का निष्क्रिय हो जाना वैसे ही है जैसे बारूद रखी हो और अंगारा पड़े और विस्फोट हो जाए लेकिन अंगारा न पड़े बरसों तक तो बारूद भी सोच सकती है कि अब मैं बहुत शांत हो गई क्योंकि अब कोई विस्फोट नहीं होता और बारूद अगर ये सोचे कि ये अंगारे के कारण विस्फोट होता है इसलिए मैं अंगारे से बचती रहूं तो शांत बनी रहूंगी तो भी भ्रांति है क्योंकि अंगारा विस्फोट नहीं करता अंगारा केवल विस्फोट के लिए निमित्त बनता है विस्फोट तो बारूद नहीं होता वो हमारे भीतर वृत्तियों की बारूद मौजूद रहे तो हम अंगारों से कितने ही भागते रहे कोई बचाव नहीं और जन्मों जन्मों में वापिस पुनः पुनः वृत्तियां हमें उपलब्ध हो जाएंगी जब कृष्ण कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तो पहली बात ठीक से समझ लें इस तरह के निरोध के लिए कृष्ण नहीं कहते कृष्ण का जीवन भी नहीं कहता कि इस तरह का निरोध उन्होंने किया हो फिर भी कृष्ण के साथ भी भूल हो जाती है बुद्ध के वक्तव्य में कोई खोज सकता है ये अर्थ क्योंकि वे छोड़कर गए हैं महावीर के व्यक्तित्व में खोज सकता है कोई ये अर्थ क्योंकि वे भी छोड़कर गए हैं लेकिन कृष्ण के साथ तक भ्रांति होती है और गलत अर्थ होते हैं जबकि कृष्ण कुछ भी छोड़कर नहीं गए निश्चित ही कृष्ण का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट से विषयों से भाग जाओ उनका अर्थ दूसरा है वो दूसरा अर्थ बहुत भिन्न है बहुत क्रांतिकारी है एक तो उपाय है कि मैं विषय से भाग जाऊं अंगार से भाग जाऊं बारूद को बचाए हुए दूसरा उपाय है कि बारूद को छोड़ दूं और अंगारों से खेलता है कृष्ण तो अंगारों से खेलने के लिए संदेश दे रहे हैं अर्जुन को वो कहते हैं युद्ध कर भाग मत और ध्यान रहे जो युद्ध बाहर है वो तो बहुत छोटा है एक और अंतर युद्ध है भीतर जो सतत चल रहा है चेतना का विषयों के साथ कि विषयों के प्रति आकर्षित हो या न हो कृष्ण उस युद्ध से भी भागने की सलाह नहीं दे सकते भागना उनकी भाषा नहीं एस्केपिज्म पलायन उनके सोचने का ढंग नहीं कृष्ण का ढंग तो सोचने का है युद्ध की सघनता में खड़े होकर जीवन के रूपांतरण का कृष्ण का अर्थ दूसरा ही हो सकता है वो ये है विषयों से भागने की कोई भी जरूरत नहीं और भाग कर भी कोई भाग नहीं सकता और जहां भी हम जाएंगे वहीं विषय मौजूद हो जाएंगे संसार जहां भी है वहां विषय उपलब्ध है वृत्ति को विसर्जित करना ही इंद्रियों का संयम और वृत्ति विसर्जित हो तो इंद्रियां अपने आप अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि वृत्ति के ऊपर ही चढ़कर चेतना इंद्रियों के द्वार से निकलती है वृत्ति के घोड़ों पर बैठकर ही चेतना इंद्रियों के बाहर निकलती है और अनंत की वाह यात्रा पर भटकती है वृत्ति के घोड़े ही अगर छीन हो जाए तो फिर इंद्रियां भागती नहीं अवरुद्ध हो जाती उनके द्वार बंद हो जाते ठीक समझें तो इंद्रियों के द्वार बहुत ऑटोमेटिक थे बहुत स्वचालित थे जब तक चेतना भीतर से धक्का देती है उन्हें बाहर की तरफ तभी तक वे खुले रहते हैं और जब भीतर की चेतना धक्का नहीं देती बाहर की तरफ वे द्वार अपने से बंद हो जाते ऐसा समझे आंख प्रतीक है आंख से समझे तो सारी इंद्रियों का ख्याल आ जाए और आंख सूक्ष्मतम और सबसे ज्यादा नाजुक डेलीकेट बारीक इंद्री है और जो आंख पर होता है वही सब इंद्रियों पर होता है जब तक आपके भीतर चेतना जागना चाहती है तब तक पलकें खुली रहती है और जब चेतना सोना चाहती है पलकें झप जाती है और बंद हो जाती चेतना का धक्का ही पलकों को खोले रखता है इसलिए कितनी ही गहरी नींद आ रही हो आपको लगता हो कि अब क्षण भर नहीं जाग सकूंगा उसी वक्त कोई खबर दे कि घर में आग लग गई है नींद नदारत हो जाती नींद का पता नहीं चलता आप रात भर जाग सकते क्या हो गया चेतना ने वापस जागने का निर्णय लिया पलकें खुल गई करीब करीब सभी इंद्रियां इसी तरह हैं आंख पर तो पलके हैं कान पर तो कोई पर्दे नहीं है बंद करने के लेकिन विद्यार्थी कक्षा में बैठा है और बाहर एक पक्षी गीत गा रहा है पक्षी का गीत सुनाई पड़ने लगता है शिक्षक की आवाज बंद हो जाती शिक्षक ज्यादा करीब है ज्यादा जोर से बोल रहा है पक्षी बहुत दूर है किसी अंगराई में छिपा होगा बहुत धीमी सी गूंजती उसकी आवाज आती है लेकिन उस विद्यार्थी को आवाज सुनाई पड़ने लगी पक्षी की शिक्षक का बोलना खो गया बात क्या हो गई चेतना जिस तरफ उन्मुख होती है उस तरफ द्वार खुल जाते हैं और जिस तरफ उन्मुख नहीं होती उस तरफ द्वार बंद हो जाते कान के भी सूक्ष्म द्वार हैं जो बंद होते और खुलते चित्त में काम वासना भर जाती है तो काम वासना का द्वार खुल जाता है चेतना धक्के देती है तो काम वासना का जो केंद्र है उसका द्वार खुल जाता है और काम ऊर्जा बाहर प्रवाहित होने लगती है चेतना धक्के नहीं देती तो काम ऊर्जा का द्वार बंद है और कोई उपाय नहीं कि वो बाहर प्रवाहित हो जाए हमारे शरीर की सभी इंद्रियों के द्वार स्वचालित थे जब चेतना भीतर से धक्का देती है तो द्वार खुल जाते हैं और जब चेतना भीतर से धक्का नहीं देती द्वार अपने आप बंद हो जाता जब कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तो वह ऐसा नहीं कहते कि जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाओ क्योंकि जो जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद करके बैठेगा जिसके खिलाफ उसने आंखें बंद की हैं वो बंद आंखों में भी मौजूद हो जाता है उससे बचा नहीं जा सकता जबरदस्ती कान बंद कर लो कुछ न सुनना हो तो वो अनसुना भी भीतर गूंजता है बंद नहीं होता जबरदस्ती काम वासना को रोक लो तो कोई अंतर नहीं पड़ता काम ऊर्जा स्खलित होती ही चली जाती जबरदस्ती कोई भी उपाय नहीं क्योंकि जबरदस्ती एक बात की खबर देती है कि भीतर से चेतना बाहर जाना चाहती है और उसी चेतना का एक हिस्सा उसे जबरदस्ती भीतर रोकना चाहता है तो अगर रोकने वाला हिस्सा सबल हुआ तो दरवाजे पर थोड़ी देर कसम कस होती रहती दरवाजे के पीछे बाहर जाने वाला धक्का देना चाहता है रोकने वाला खींचता है अगर सबल हुआ रोकने वाला तो थोड़ी देर तक ये कसम कस होती है लेकिन एक बड़े मजे का नियम है कि जो रोकता है वो थोड़ी देर में कमजोर हो जाता है जो हिस्सा रोकता है उसकी ताकत रोकने में गैर हो जाती है इसलिए आदमी आज कसम खाता है ब्रह्मचर्य की और कल पाता है कि मुश्किल है वो हैरान होता है कि जब कसम खाई थी तो बिल्कुल सुलभ मालूम पड़ती थी सरल मालूम पड़ती थी बात कसम खाई ही इसलिए 24 घंटे बाद क्या हो जाता है जिस मन के हिस्से ने कसम खाई थी वो लड़ने में लग जाता है उस मन से जो जाना चाहता था और ध्यान रहे कसम जब भी कोई खाता है तो पक्का मान लेना उसके भीतर दूसरा हिस्सा भी मौजूद होगा नहीं तो कसम किसके खिलाफ खाई जाएगी जब मैं कहता हूं कि कसम लेता हूं कि अब झूठ नहीं बोलूंगा वो मैं किसके खिलाफ कसम खा रहा हूं अपने ही उस मन के हिस्से के खिलाफ जिसके बाबत मुझे पक्का पता है कि वो मुझे झूठ बोलने को मजबूर करता सकता लेकिन जिस हिस्से से मैं रोकूंगा वो रोकने में उसकी ताकत वह हो जाएगी और जो हिस्सा रुका है वो रोज रोज शक्तिशाली होता चला जाएगा रुके होने की वजह से शक्ति बढ़ेगी रोकने की वजह से शक्ति कम होगी आज नहीं कल धक्का देकर चेतना फिर इंद्रिय के द्वार को खोल देगी और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए तर्क खोज लेते हैं सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन मक्का की यात्रा पर गया पर उसने कसम ले ली भाव में आ गया कसम ले ली कि मछलियां खाना छोड़ देता हूं कसम लेने का मछलियां छोड़ने का असली कारण यह नहीं था कि मछलियां छोड़ने से मुल्ला को लगता हो कि कोई बहुत बड़ा स्वर्ग मिल जाएगा असली कारण यह था कि उसके गुरु ने कहा कुछ तो छोड़ो तो मछलियां मुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं थी इसलिए उसने मछलियां छोड़ दी लेकिन छोड़ने की रात ही मुल्ला हैरान हुआ कि मछलियों का स्वप्न आया कभी नहीं आया और घर लौटते लौटते तीर्थ यात्रा से बस एक ही बात याद रह गई कि मछलियां छूट गई और एक ही बात गूंजने लगी मन में कि बड़ी गलती थी इतनी जल्दी क्या थी ऐसा बातों में पड़ जाने का प्रयोजन क्या था और घर आते आते एक ही वासना मन में सघन हो गई थी मछलियां खाने की जो कि मन में कभी भी ना थी कई बार ऐसा होता है अगर किसी चीज में रस पैदा करना हो तो छोड़ने की कसम खा ले रस पैदा होना शुरू हो जाता क्योंकि जिसे हम छोड़ते हैं उसके प्रति वासना पैदा होती है पैदा इसलिए होती है कि छोड़ने से लगता है कि अब कभी भी भोग ना सकेंगे अब कभी भी भोग ना सकेंगे तो मन के किसी भी कोने में भोग की जरा सी भी वृत्ति पड़ी हो वो कहती है ये तो बड़ी गलती कर ली एक बार तो भोग लेते अगर भोग सकेंगे तो वो वृत्ति विश्राम करती प्रतीक्षा करती कभी भी भोग लेंगे कभी भी भोग लेंगे घर आते ही मुल्ला बेचैन हुआ पत्नी को भी उसके गुरु ने बता दिया आके कि मुल्ला मछलियां छोड़ दिया है इससे मछलियां मत देना पत्नी का भी मन हुआ जैसा कि सभी पत्नियों का होता है कि पति की परीक्षा ले दूसरे दिन ही उसने मछलियों का शोरबा बना डाला मुल्ला को बांस आने लगी वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया आखिर जब खाने पर बैठा सब चीजें दी गई शोरबा नहीं दिया गया मुल्ला ने कहा कि मछली का शोरबा बना है ऐसी सुगंध घर में आती थोड़ा सा दो उसकी पत्नी ने कहा लेकिन मैंने सुना कि आप मछलियां छोड़कर आए मुल्ला ने कहा मछलियां छोड़ी हैं मछलियों का शोरबा बात ठीक ही थी पत्नी झिझकी तो लेकिन शोरबा छोड़ा ही नहीं था पत्नी ने बर्तन उठाया और मुल्ला की थाली में शोरबा डालने लगी तो मछलियों के कतरे न चले जाएं तो उसने हाथ की आड़ लगा दी मुल्ला ने कहा कि हाथ की आड़ क्यों लगा दी मछलियां छोड़ी हैं लेकिन खुद जो आती हो उन्हें रोकने का काम नहीं लिया अपने आप जो आने को उत्सुक है उनको आने दो फिर आदमी तर्क खोजता है उसी के लिए तर्क खोजता है जिसके खिलाफ तर्क खोज लिए थे नहीं कोई भी इस भांति जीवन के रूपांतरण को नहीं पाता और इंद्रियों के द्वार इस तरह कभी बंद नहीं होते इंद्रियां बल्कि इस तरह और सतेज हो जाती हैं उनकी जंग भी झड़ जाती है कृष्ण का जो अर्थ हो सकता है जो अर्थ है जो सदा ही जानने वालों का अर्थ रहा है वो ये है कि जो वृत्ति भीतर से धक्का देती है उस वृत्ति का विसर्जन वो कैसे हो छोड़ने से नहीं होता भोगने से नहीं होता भोगने से बढ़ता है पुनरुक्ति से आदत मजबूत होती है छोड़ने से निषेध का आकर्षण मिलता है और निषेध से रस जगता है न भोगने से मिटता न छोड़ने से मिटता वो कैसे मिटे वृत्ति का रस वो कैसे इंद्रिय वो संयम कैसे उपलब्ध हो उस संयम का एक ही उपाय रहा है सदा से और वो है जब भी कोई विषय आकर्षित करे तो ध्यान विषय पर न रखकर वृत्ति पर रखना जब भी कोई विषय आकर्षित करे राह से गुजर रहे हैं आप एक सुंदर चेहरा दिखाई पड़ता है एक सुंदर देह दिखाई पड़ती है स्त्री की पुरुष की दौड़ता है मन उस समय आपका ध्यान उस शरीर पर होता है जो आपको आकर्षित कर रहा है उस वृत्ति पर नहीं होता जो दौड़ी जा रही है और उस चेतना पर भी नहीं होता जो आकर्षित हो रही है और जहां ध्यान होता है चेतना उसी तरफ दौड़ती है ये नियम है जहां ध्यान होता है चेतना उसी तरफ दौड़ती है जहां ध्यान वहीं चेतना के लिए निशाना बन जाता है और चेतना का तीर उसी तरफ चलने लगता है ध्यान को जब कोई सुंदर व्यक्ति दिखाई पड़े तो ध्यान को सुंदर व्यक्ति पर मत केंद्रित करें तत्काल अपने पर केंद्रित करें और देखें कि मैं सौंदर्य से आकर्षित हुआ हूं और मेरी चेतना वृत्ति बनकर सौंदर्य की तरफ बह रही लड़ने की जरूरत नहीं गाली देने की जरूरत नहीं कि यह पाप है सौंदर्य को देखना बिल्कुल पाप नहीं है सौंदर्य की प्रकृति में जरा भी पाप नहीं है सौंदर्य के अनुभव में जरा भी पाप नहीं है सुंदर को जानकर अगर आदमी की चेतना स्वयं में फिर हो तो परमात्मा का स्मरण होगा पाप का कोई स्मरण नहीं हो सकता है कोई कंडेमनेशन कोई निषेध कोई निंदा नहीं सिर्फ इतना कि मैं उसे जानूं जो आकर्षित हुआ है क्योंकि वही मैं हूं और मैं उसे जानूं जो चेतना आकर्षित होकर बह रही है और जैसे ही आप अपने ध्यान को स्वयं पर और अपनी बहती हुई चेतना पर ले जाएंगे आप अचानक पाएंगे कि इंद्री का द्वार बंद हो गया क्योंकि ध्यान भीतर जाए तो चेतना भीतर की तरफ प्रवाहित होने लगती है बाहर की तरफ नहीं जहां ध्यान वहां चेतना बहती है जैसे जहां गड्ढा वहां पानी बहता है गड्ढा खोदते हैं और पानी बहता है अब कुछ पागल हैं जो पानी को रोकने की कोशिश करते हैं पानी को रोकने से कुछ ना होगा कितना ही रोकिए पानी गड्ढे की तरफ ही बहेगा और अगर बांध बनाया तो जो झरना था वो महासागर हो जाएगा और आज नहीं कल अगर झरने को ही बहने देते तो बहुत खतरे होने वाले नहीं थे लेकिन किसी दिन ये झरना जब बांध बन के महासागर बन जाएगा और बांध को तोड़कर बहेगा तो महाविनाश होगा चित्त के साथ यही हो रहा है इसलिए आप जान के हैरान होंगे जो लोग रोज छोटा मोटा क्रोध कर लेते हैं वे लोग कभी हत्या नहीं करते इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा आदमी हो जो क्रोधी तो हो लेकिन क्रोध न करता हो तो उससे सावधान रहना क्योंकि वो किसी दिन जब भी करेगा तो हत्या से कम में निपटारा नहीं बांध बन जाए जो आदमी रोज नाराज हो लेता है वो रोज प्रसन्न भी हो जाता है इसलिए बच्चे अभी नाराज हो रहे हैं अभी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बांध बिल्कुल नहीं है कोई बांध नहीं है हम कितने ही कितने ही क्रोध कर लेते हो फिर भी बांध बांध के चलना ही पड़ता है दफ्तर में मालिक है नाराज नहीं हो सकते समय है परिस्थिति है नाराज नहीं हो सकते रोक देना पड़ता वो बांध बन जाता है फिर वो बांध टूटता है और तब जोर से क्रोध निकलता है इसलिए हमारा क्रोध अक्सर ही अनजस्टिफाइड होता है क्योंकि जिस पर निकलता है अकेला वही उसका कारण नहीं होता और 25 लोगों का क्रोध भी उसमें जुड़ा होता है जो उन पर नहीं निकल पाया और इस पर निकलता है इसलिए जिस पर निकलता है वो सदा सोचता है कि इतनी छोटी सी बात और इतना क्रोध जस्टिफाइड नहीं मालूम पड़ता उसे हमें भी मालूम नहीं पड़ेगा पीछे सोचने पर इतनी सी बात थी इतने क्रोध की क्या जरूरत थी लेकिन बहुत सा क्रोध जो इकट्ठा था बांध बांध कर वो समय की तलाश में था जब भी गड्ढा मिल जाएगा बांध को तोड़ देंगे और मुक्त हो जाएंगे छोटे छोटे पापी बड़े पाप कभी नहीं कर पाते और बड़े पापी अक्सर वे ही लोग होते हैं जो छोटे छोटे पाप करने से अपने को बचाते रहते ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पाप के करने के अभ्यास से कोई बड़ा पापी होता है ख्याल रखना छोटे छोटे पाप करने वाला कभी बड़ा पापी नहीं हो पाता बड़ा पापी होने की आकांक्षा हो छोटे छोटे पाप करना बंद कर देना फिर एक दिन अपने आप विस्फोट हो जाए और बड़ा पाप घटित हो जाए चेतना भी ध्यान की तरफ इसी तरह बहती है जैसे गड्ढे की तरफ पानी बहता है एक नेचुरल एक एक निसर्ग का नियम है कि चेतना ध्यान की तरफ बहती है जहां ध्यान वहीं चेतना का तीर सरकने लगता है अगर आप कोई गाली दे उस वक्त गाली देने वाले पर ध्यान न रखें गाली सुनने वाले पर ध्यान रखें आप अचानक पाएंगे इंद्री का द्वार बंद हो गया और चेतना वापस भीतर लौट गई जब कोई आपको चांटा मारे चांटा मारने वाले के हाथ पर ध्यान न रखें चांटा जिसे मारा गया है उस पर ध्यान रखें और आप अचानक पाएंगे कि वो आदमी दिख हो गया जिसने चांटा मारा वो बाहर जाता क्रोध भी विलीन हो गया और चेतना अपने भीतर लौट गई और एक बार अगर आपको ये अनुभव हो जाए कि जो ऊर्जा जो शक्ति क्रोध बन के बाहर जा रही थी वो बाहर नहीं गई बल्कि लौट कर भीतर आ गई तो आप आप हैरान हो जाएंगे बाहर जाती हुई क्रोध की ऊर्जा पीड़ा में ले जाती वही ऊर्जा जब भीतर की तरफ लौटती है तो क्वालिटेटिवली बदल जाती है उसका गुणधर्म बदल जाता है वही क्षमा बन जाती है और जिसने क्षमा जाना उसके आनंद का कोई हिसाब नहीं और जिसने क्रोध जाना उसके पश्चाताप का कोई अंत नहीं अगर काम वासना मन को पकड़ती हो और बाहर न जाकर वापस भीतर लौट आए ध्यान के साथ तो वही ब्रह्मचरी बन जाती है और जिसने काम वासना जानी उसने फ्रस्ट्रेशन के अतिरिक्त विषाद के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं जाना और जिसने काम वासना का अपने पर लौटाना जाना उसने वो जाना है जिसे ज्ञानी ब्रह्मचर्य कहते रहे अपूर्व है उसकी शांति अपूर्व है उसकी शक्ति अपूर्व है उसका आनंद उसके उसके आनंद को मापने का कोई उपाय नहीं लेकिन लौटती हुई ऊर्जा में गुणात्मक अंतर होता है ऊर्जा की दिशा सब कुछ है क्योंकि जब ऊर्जा मुझसे बाहर जाती है तो मुझे गरीब कर जाती है मेरी ही ऊर्जा जब मुझसे बाहर जाती है माई ओन एनर्जी जब भी बाहर जाती है तो मुझे दर्द कर जाती है मैं दीन हो जाता हूं वो चुप जाती है और मैं, मैं गरीब हो जाता हूं जब मेरी ऊर्जा इंद्रियों के द्वार के पास आकर वापस लौट के वर्तुल बना लेती है सर्कल पूरा कर लेती है मुझ पर वापस लौट आती है तो मैं अनंत गुना धनी हो जाता हूं और जो अपनी ही ऊर्जा का वर्तुल बना लेता है वही व्यक्ति संयम को उपलब्ध है संयम का अर्थ है स्वयं की ऊर्जा का बन गया वर्तुल खुद की ऊर्जा एक वर्तुल में घूमने लगी एक सर्किल में अब बाहर जाने का कोई उपाय न रहा अब ऊर्जा कहीं भी डिस्ट्रिपेट कहीं भी बिखर नहीं सकती अब ऊर्जा जितनी भी बढ़ती जाएगी भीतर होती जाएगी और जैसे जैसे ये वर्तुल बनता है वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती और धीरे धीरे जैसे हम मंदिर के ऊपर शिखर बनाते हैं वो इसी के प्रतीक में बनाए गए शिखर है छोटा होता जाता है मंदिर का बुर्ज ऊपर जाके स्वयं शिखर लग जाता है छोटा होता जाता है जैसे जैसे ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती है वैसे वैसे वर्तुल छोटा होता जाता है सघन होता जाता है कंडेंस्ड होता जाता है और एक क्षण आता है जब ऊर्जा स्वान शिखर बन जाती है फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध गति को उपलब्ध होती है संयम का अर्थ है स्वयं की ऊर्जा का बनाया गया वर्तुल असंयम का अर्थ है स्वयं की ऊर्जा का टूटा हुआ वर्तुल उस टूटी जगह से ही लीकेज जहां वर्तुल टूटता है वहीं से लीकेज वहीं से शक्ति बिखर जाती और खो जाती जैसे साठ सर्किट हो जाए बिजली का वहां से वहां से ऊर्जा बिखरने लगती है और हमारी सारी इंद्रियों के द्वार से हम सिर्फ ऊर्जा को बिखेरते हैं खोते हैं कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए संयम का अर्थ है इस ऊर्जा का स्वयं में ही रमण करना स्वयं में ही स्थिर हो जाना तो इस सीक्रेट को इस राज को इस गुर को समझ लें जब भी कोई विषय आकर्षित करे तब ध्यान विषय पर न दें तत्काल स्वयं पर दें और स्वयं की चेतना पर दें उसी क्षण एक क्रांति मालूम पड़ेगी भीतर कोई चीज जा रही थी बाहर लौट पड़ी टर्न अबाउट बिना कुछ किए अपने भीतर अनुभव होगा कोई शक्ति बाहर जाती थी वापस लौट गई और वापस लौटकर जब वो स्वयं पर आती है तो अपूर्व अपूर्व साक्षात्कार होता है अपनी ही ऊर्जा का इस संयम को जो उपलब्ध है और भाव को मन को जिसने हृदय में स्थिर कर लिया और ऐसी ऊर्जा होगी तो भाव अपने आप हृदय में स्थिर हो जाता है और प्राण जिसका मस्तिष्क में ठहर गया है इन दो बातों को ठीक से समझ लें भाव से अर्थ है फीलिंग संवेदना वो जो हमारे भीतर अनुभव करने की क्षमता है वो वो हृदय क्षेत्र में स्थिर हो जाती है जब जब कोई संयम को उपलब्ध होगा क्यों ऐसा होता है हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक अनुभूति प्रत्येक अनुभव के लिए अलग अलग केंद्र है सेंटर से चक्र है और जब भी किसी चक्र की ऊर्जा किन्हीं दूसरे चक्रों में प्रवेश कर जाती तो हम करीब करीब पागल की तरह जीते और अभी हमारी हालत ऐसी अभी हमारी हालत ऐसी जैसे एक आदमी पेट से भोजन करे समझ में आता है दांतों से चबाए गले से गटके पेट से पचाए समझ में आता है लेकिन वह आदमी बैठ के से केवल खाने का विचार करे तो खाने का जो भी यंत्र है वो बिल्कुल उपयोग में नहीं आएगा और मस्तिष्क जहां से खाना खाया नहीं जा सकता वो खाने के काम में लग जाएगा तो भोजन करना सेरिब्रल हो जाएगा मस्तिष्की हो जाएगा मस्तिष्क भोजन कर नहीं सकता लेकिन भोजन करने के भ्रम में पड़ सकता है और भ्रम अगर भारी हो जाए तो व्यक्तित्व का सब सब विखंडित हो जाता है और ऐसे भ्रम में हम जीते काम वासना का केंद्र है लेकिन लोग मस्तिष्क में काम वासना को धीरे धीरे सोच सोच सोच सोचकर काम वासना के केंद्र से हटा के मस्तिष्क में प्रवेश कर ले तो मनोचिकित्सकों के पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं स्वप्न में तो मैं बहुत पोटेंट मालूम पड़ता हूं बहुत वीरवान मालूम पड़ता हूं जब विचार करता हूं तो इतनी काम ऊर्जा मालूम होती है लेकिन जब स्त्री के निकट पहुंचता हूं तो एकदम इंपोर्टेंट निर्वीरी हो जाता हूं वो रोज घटता है उसके घटने का कारण है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी सेक्स सेंटर की जो संभावना थी वो हटकर मस्तिष्क में केंद्रित हो गई तो जब वे सोचते हैं तब वे बड़े शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं लेकिन जब शक्ति को प्रकट करने का अवसर हो तब वो एकदम शक्तिहीन हो जाता हमारे सारे चक्रों के जो जो विभाजन है वो सब के सब कंफ्यूज्ड हैं एक दूसरे में प्रवेश कर गए हैं कोई किसी की सुनता नहीं मालूम पड़ता और कोई चक्र किसी का काम करता है कोई चक्र किसी का काम करता सब उधार हो गया है तो हम मस्तिष्क से भावना तक करने को उतर जाते हैं मस्तिष्क भावना नहीं कर सकता हृदय विचार नहीं कर सकता जो जिस चक्र का काम है अगर उस पर ही पहुंच जाए तो व्यक्तित्व एकदम संतुलित हो जाता है और जब ऊर्जा संयम को उपलब्ध होती है तो प्रत्येक चक्र सिर्फ अपने ही काम को करता है अभी पश्चिम में एक बहुत बड़ा साधक महायोगी था जॉर्ज गुरजीएफ तो वो कहता था अगर तुम इतना ही कर लो कि तुम्हारा प्रत्येक चक्र शुद्ध हो जाए कि काम वासना का चक्र केवल काम वासना का ही काम करे तो भी तुम महाजीवन को उपलब्ध हो जाओ लेकिन हमारे भीतर सब कंफ्यूज हमारी हालत ऐसी है किसी एक ऐसी मिलिट्री की टुकड़ी की जिसमें पहरेदार सेनापति बन के बैठ गया हो जिसमें सेनापति पहरेदार के पैरों के पास बैठा हो जिसमें जिनको आज्ञा देनी चाहिए वो आज्ञा ले रहे हो जिनको आज्ञा लेनी चाहिए वो आज्ञा दे रहे हो और किसी को पता ना हो कि कौन कौन है सब विक्षिप्त हो जाए ऐसी हमारी चित्त की चेतना की हमारे व्यक्तित्व की दशा है